लख बसनेह सुभाय सुहाय भैरु प्रीति दुरहि दुराय अस कहि भेट सजो वन लागे फल खग मृग मागे मेन पीन पाठीन पुराणे बरी बरी भार कहार लाने मिलन साज सज मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले देख दूर ते कहने जनामो के नमुनि सही दंड प्रणामो जान राम प्रिय दीनय शेषा भरत ही कहे वो बुझाए मुनीषा राम सखा सुन संदन त्यागा चले उतरे उमगत अनुरागा गाव जात गुह नाव सुनाए के न जो हारो माथ महिलाए निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है यह श्री राम का मित्र है इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की करत दंडवत देखित हे बरतले न उरलाय मनहु लखन सन भेट भये प्रेमन हृदय समाय दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया हृदय में प्रेम समाता नहीं है मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो भेटत भरत ताहि अति प्रेते लोगसिहाहि प्रेम कैरीति धन्य धन्य धुनि धुन्य मङ्गलमूला सुरसराहितहि लोक पुरा सब सतिहि नीचा जा चा तहि भरियंक राम लघु भाए भ्राता तहि भरियंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं राम राम कह जय जमुहाहे तेरा पाप पुंज समहा यह तो राम लाए उरलेना कुल समेत जग पावन की नाम करम नास जल सुरसरी पर तही को कहु शीस नहीं धरई उलटा नाम जपत जगु जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समान जो लोग राम राम कहकर जभाई लेते हैं अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते फिर इस गुह को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुशल समेत इसे जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है मिल जाता है तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए सपच सबस खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात मूर्ख और पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं